मंत्र और सुमिरन की कला ट्रैक दस निरंतर प्रभु स्मरण भाग दो अनोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय एट नंबर थ्री चिन्तयन् ओ अर्थात हे पार्थ परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है ॐ कविं पुराणमनुशासितारम् अणोर्णियां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात ओम इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है कृष्ण कहते हैं हे पार्थ ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम दिव्य पुरुष को परमेश्वर को प्राप्त होता है अभ्यास रूप योग से ध्यान को प्राप्त हुआ है और अन्य की तरफ न जाता हुआ कोई अन्य परमात्मा तो है नहीं परमात्मा तो एक है इस्लाम ठीक कहता है कि सिवाय अल्लाह के और कोई अल्लाह नहीं there is no god except the god ईश्वर के सिवाय और कोई ईश्वर नहीं ठीक कहता है एक ही है वो तो अन्य तो कोई ईश्वर नहीं है इसलिए जब कृष्ण कहते हैं कि जिसका ध्यान सतत मुझ में ही अभ्यासरत हुआ है और मेरे अतिरिक्त अन्य की तरफ नहीं जाता तो इसका आप ये मतलब मत समझना कि कृष्ण कहते हैं बुद्ध की तरफ नहीं जाता महावीर की तरफ नहीं जाता राम की तरफ नहीं जाता भक्तों ने ऐसे ऐसे गलत अर्थ निकाले हैं जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है कृष्ण भक्त सोचता है कि अगर राम की तरफ गया तो अन्य की तरफ गया अगर बुद्ध की तरफ गया तो अन्य की तरफ गया कृष्ण ने तो साफ कहा है अनन्य रूप से मेरी तरफ अन्य की तरफ नहीं लेकिन भूल है समझ की परमात्मा तो एक ही है उसे कोई राम कहे और कोई रहीम कहे और कोई कृष्ण कहे और कोई कुछ और कहे परमात्मा तो एक ही है यहां अन्य से क्या अर्थ है क्या और परमात्मा भी है जिनकी तरफ से बचा लो अपने को और कोई परमात्मा नहीं है फिर किससे बचाने को कहते हूं कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि सवाल परमात्मा का नहीं है लेकिन आदमी के मन में हजार हजार चीजों की तरफ दौड़ने की वृत्ति है हजार हजार चीजों की तरफ दौड़ने की वृत्ति और एक के साथ ज्यादा देर रहने की क्षमता नहीं है मन प्रतिपल नए को खोजता है नया मकान बना ले दो चार आठ दिन में ही पुराना पड़ जाता है मन कहता है अब कोई और दूसरा नया बनाओ नए कपड़े पहन लें चार दिन बाद मन फिर दुकानों के सामने ठिटक के रुकने लगता है कि मालूम होता है नए फैशन के कपड़े फिर बाजार में आ गए मन नए की तलाश करता है क्यों क्योंकि अगर एक ही चीज के साथ मन को रहना पड़े तो मन के लिए गति नहीं मिलती इसलिए मन ऊब जाता है कथा नया लाओ लेकिन परमात्मा को तो नया लाया नहीं जा सकता इसलिए जो नए की निरंतर खोज में लगा है वो परमात्मा के साथ रुक ना पाएगा परमात्मा के साथ तो वही रुक सकता है जो उस अभ्यास में आ गया जहां ऊब पैदा ही नहीं होती जहां बोर्डम पैदा ही नहीं होती आदमी को आधार में बनाने वाली अगर कोई एक गहरी से गहरी चीज है तो वो बोर्डम है वो ऊब हर चीज से ऊब जाता है मन एक पत्नी से उब जाता है एक पति से उब जाता है एक घर से उब जाता है एक मित्र से उग जाता है एक धंधे से उग जाता है हर चीज से उब जाता है और कहता है और कुछ लाओ और कुछ लाओ वो कहता ही चला जाता है कि और कुछ लाओ उसकी मांग है और और और हर चीज में वो कहे चला जाता है और कुछ लाओ दौड़ाता रहता है अपने से ही उब जाता है इसलिए कोई आदमी अपने साथ रहने को राजी नहीं अपने से घबरा जाता सुना है मैंने मुल्ला नसरुद्दीन जब छोटा सा बच्चा था तो उसके माँ बाप एक दिन उसे घर छोड़कर गए हैं किसी शादी में ले जाना संभव न था शैतान था लड़का तो कहा उससे कि हम ताला लगा जाते हैं बाहर अगर तू भली तरह व्यवहार किया अगर घर में तू शांति से रहा और अच्छा साबित हुआ तो लौट कर हम तुझे पांच रुपए देने वाले पांच रुपए के लोभ में नसरुद्दीन ने भले रहने की कोशिश की जैसा कि हम सभी लोग किसी लोभ में भले रहने की कोशिश करते हैं और इसीलिए अगर ज्यादा बड़ा लोभ मिल जाए बुरा होने के लिए तो तत्काल बुरे हो जाते हैं ये सवाल सब लोग का है तो हर आदमी की भलाई की कीमत है एक आदमी कहता है कि मैं रुष्वत बिल्कुल नहीं लेता उससे पूछो कितनी नहीं लिखते पांच दस पंद्रह पचास सौ एक जगह लिमिट आ जाएगी वो कहेगा बस ठहरो क्या देने का इरादा सीमा है एक आदमी कहता मैं चोरी बिल्कुल नहीं करता फला आदमी के घर गया दस रुपए का नोट पड़ा था मैंने नहीं उठाया पूछो उससे दस हजार का पड़ा होता तो वो कहेगा एक दफे सोचने का फिर से मौका दे सीमा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए भलाई अगर कीमत से मिलती हो तो बुराई कभी भी ले जा सकती है इसलिए जिन लोगों को भी भला होने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं उनके भले होने में सदा संदेह रहेगा वो कभी भी बुरे हो सकते हैं भलाई तो वही है जो बिना पुरस्कार के लेकिन उस भलाई को हम जानते नहीं नसरुद्दीन ने बड़ी कोशिश की भले रहने की पांच रुपए का सवाल था घड़ी घंटे की बात थी आखिर माँ बाप आ गए देखे तो बड़े हैरान हुए कि वो घर के भीतर एक कमरे से दूसरे कमरे में गोल चक्कर लगा रहा पूछा उसके पिता ने कि नसरुद्दीन ये तो क्या कर रहा है और हमने कहा था कि भले रहने की कोशिश करना तो नसरुद्दीन ने कहा कि मैंने कोशिश की I was gooder than good but then I couldn't stand my मैं अच्छे से भी अच्छा हो गया और तब अपने को ही सहना मुश्किल हो गया ये मैं सिर्फ अपने से भागने अपने से बचने के लिए भाग रहा हूं इस कमरे से दूसरे कमरे में just to escape from Marcel अपने से बचने के लिए भाग रहा हूं इतना अच्छा हो गया मैं कि खुद को ही सहना मुश्किल हो गया अच्छाई भी हो जाए बहुत तो ऊप पैदा कर देती हर चीज से हम उग जाते हैं और परमात्मा तो एक रस है ध्यान का केवल एक ही अर्थ है एक रस्ता से न उगने का अभ्यास ध्यान का अर्थ है एक रस्ता से न उगने का अभ्यास बटन रसुल मजाक में कहीं कहा है कि मैं मर के नरक भी जाने को तैयार हूं लेकिन हिंदुओं और बौद्धों के मोक्ष में जाने को तैयार नहीं क्यों क्योंकि उसने कहा कि मोक्ष में तो बड़ी ऊप पैदा हो जाएगी वहां तो सब एक रस है आनंद है तो आनंद ही आनंद है वहां कभी दुख पैदा नहीं होता तो आनंद से उग जाऊंगा इतना आनंद कैसे सहूंगा आनंद ही आनंद बीच में कोई कड़वा स्वाद ही ना आता हो तो मिठाई भी उबाने वाली हो जाती तो तिक्त भी चाहिए और इतना सन्नाटा है वहां की कभी कोई वाणी ही नहीं उठती तो मैं तो घबरा जाऊंगा और फिर वहां से लौटने का भी कोई उपाय नहीं है कहता था वहां जो गया सो गया ये तो मौत हो जाएगी मोक्ष ना होगा लौट नहीं सकते मोक्ष में एक ही दरवाजा है एंट्रेंस का प्रवेश का निकास का एग्जिट का कोई दरवाजा नहीं है सो जो गए सो गए तो रसन कहता था ये लोग कहते हैं कि वो परम मुक्ति है मुझे लगता है वो तो परम बंधन हो गया वहां से निकलने का उपाय नहीं नरक से निकल सकते और नरक में बड़ा परिवर्तन है चौबीस घंटे उपद्रव चल रहे जितना उपद्रव वहां है उतना तो यहां भी नहीं रसन ठीक कह रहा है लेकिन बात मुद्दे की है अगर आप परिवर्तन के बहुत आकांक्षी हैं तो आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते आखिर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन करता क्या है एक विचार देता फिर दूसरा देता फिर तीसरा देता वो दिए चला जाता है विचार वो कहता घबराओ मत उबो मत मैं तुम्हें नई नई चीजें दे रहा हूं और आप पूछते हैं कि ध्यान कैसे लगे ध्यान उसी दिन लगेगा जिस दिन आप उबने के लिए तैयार हो और उबे ना एक फूल को आप देख रहे हैं देखे चले जा रहे हैं बदलने की कोई इच्छा नहीं तो ठीक है देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं पहले मन उबेगा वो कहेगा क्या एक ही फूल को देखे जा रहे हो बदलो आप अगर आपने फूल न बदला तो मन कहेगा न बदलो फूल हम भीतर विचार बदलते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बदलो लेकिन आपने कहा कुछ ना बदलेंगे ये फूल है और मैं हूं और बस काफी है अगर आप घड़ी दो घड़ी एक फूल के पास भी रोज इस तरह बैठ जाएं एक दिन आप पाएंगे कि ध्यान की झलक आपको आनी शुरू होगी फिर ऊब नहीं आती फिर आप एक चीज के साथ होने को राजी हो गए और जो व्यक्ति एक चीज के साथ 24 घंटे होने को राजी है वही प्रभु का स्मरण कर सकता है क्योंकि वो स्मरण तो बदला नहीं जा सकता वो तो प्रभु एक ही है चारों तरफ एक रस है उसका एक ही स्वाद है बुद्ध कहते थे जैसे नमक सागर में कहीं भी चखो और नमकीन है स्वाद ऐसा ही प्रभु को कहीं से चखो वो बिल्कुल एक रस है एक स्वादी है कृष्ण कहते हैं अन्य की तरफ जरा भी चित्त गया तो ध्यान नहीं है और अगर अन्य की तरफ चित्त न जाता हो अनन्य रूप से मेरी ही तरफ लग जाता हो या परम दिव्य पुरुष की तरफ लग जाता हो तो परमेश्वर प्राप्त होता है इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले के स्वरूप सूर्य के सदृश प्रकाश रूप अविद्या से अति परे परमात्मा को स्मरण करता है वही परमात्मा को उपलब्ध होता है इसमें कुछ बातें कही जो हम समझिए एक जो पुरुष सर्वज्ञ इस जगत में कोई कितना भी जानता हो तो भी अल्पज्ञ ही होगा कोई कितने भी जान ले जानने को सदा से रह जाता है कोई कितना ही जान ले जानना चुप नहीं पाता है there is no end to नो हो भी नहीं सकता इसलिए कोई भी कितना भी जान ले वो जानना पूर्ण नहीं है अगर जानना कहीं भी पूर्ण होगा तो वो परमात्मा के अंतरस्थल में होगा निश्चित ही वो सभी कुछ जानता होगा जो जाना जा सकता है लेकिन उसे ये बिल्कुल पता नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि जिसे ये पता है कि मैं सब कुछ जानता हूं उसके भी जानने की सीमा है इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ है ऑल नोइंग है फिर भी उसे कोई पता नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं सब कुछ जानने का पता भी अज्ञानी का ही बोध है इसलिए अगर कभी कोई जमीन पर घोषणा करता है कि मैं सर्वज्ञ हूं तो वो इस बात की घोषणा करता है कि उसके भी जानने की सीमा है वो भी अल्पज्ञ है वो भी अज्ञानी है सिवाय अज्ञानी के अतिरिक्त कोई सब कुछ जानने की घोषणा नहीं करता है लेकिन जो उस सब कुछ जानने वाले का स्मरण करता है वो धीरे धीरे उसके साथ एक होता चला जाता है और एक घड़ी ऐसी आती है उस एक हो जाने की जब खुद को भी पता नहीं रहता कि मैं कुछ जानता हूं या नहीं जानता हूं एक मित्र मुझे पत्र लिखे हैं और पूछे हैं कि क्या आपको सब कुछ पता है मैं उन्हें दो तो ही उत्तर दे सकता हूं या तो कहूं हां सब कुछ पता है जो कि अज्ञानी का सिद्ध सूत्र है या मैं उन्हें कहूं कि मुझे कुछ भी पता नहीं जो कि ज्ञानी अक्सर कहते रहे लेकिन मुझे उसमें भी घोषणा दिखाई पड़ती है यदि मैं कहूं मुझे कुछ भी पता नहीं तो भी मैं कुछ पता होने की घोषणा दे रहा हूं और बहुत सुनिश्चित घोषणा दे रहा हूं कि मुझे कुछ भी पता नहीं कम से कम इतना मुझे पता है और कुछ भी मुझे पता नहीं ये बहुत एब्सोल्यूट बात है जैसे कोई कहे सब कुछ मुझे पता है ऐसा ही कोई कहे कुछ भी मुझे पता नहीं है ये दूसरी सीमा पर पूर्ण घोषणा है क्या किया जाए क्या उनको कहा जाए मुझे कुछ कुछ पता है और कुछ कुछ पता नहीं अगर ऐसा कहा जाए तो भी बड़ी लॉजिकल फैलिसी हो जाती क्योंकि तब पूछा जा सकता है कुछ कुछ क्या पता है और कुछ कुछ क्या पता नहीं और जिसका मुझे पता नहीं है उसका भी इतना तो मुझे पता है ही कि मुझे पता नहीं है इनको क्या उत्तर दिया जाए और वो कहते हैं हां या ना में सीधा जवाब दे दे शायद परमात्मा आपके सामने आने से इसीलिए डरता है कि आपके सवालों का जवाब उसके पास नहीं होगा जैसे जैसे कोई लीन होता है परम सत्ता में वैसे वैसे कुछ भी पता नहीं रह जाता न ज्ञान का और ना ज्ञान का यही मैं उन मित्र को कहा था तो वो कहने लगे लेकिन जब हम आपसे कुछ पूछते हैं जब आपको कुछ भी पता नहीं ना ज्ञान का ना ज्ञान का तो आप उत्तर कैसे देते क्योंकि हम सबको ख्याल है कि उत्तर बंधे बंधाए पहले से मौजूद रहते होंगे आपने पूछा उसके पहले उत्तर रेडीमेड रहते होंगे जैसे दुकान में पैकेट बंद रखे हुए चीजों के आप गए कि मुझे फला चीज चाहिए दुकानदार ने पैकेट निकाला और आपको दे दिया जिन्हें हम पंडित कहते हैं उनके पास ऐसे ही रेडीमेड पैकेट तैयार होते हैं आपने पूछा उन्होंने दुकान से निकाला आपको दे दिया लेकिन जो व्यक्ति जैसे जैसे प्रभु में लीन होगा वैसे वैसे उसे कुछ भी पता नहीं होता और न कुछ भी ना पता होता है आप पूछते हैं उत्तर आता है दिया नहीं जाता ऐसे ही जैसे कोई जाकर किसी निर्जन वीरान की घाटी में जोर से आवाज करे और पर्वत उसके आवाज को प्रतिध्वनित कर दे ऐसे ही जैसे किसी दर्पण के सामने कोई जाके खड़ा हो जाए और दर्पण उसकी आकृति को प्रतिच्छबित कर दे कृष्ण भी जो उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को वे कोई उत्तर नहीं है उस अर्थ में उत्तर नहीं है जैसे स्कूल के अध्यापक और बच्चों के बीच होते वैसी कोई बंदी रेडीमेड बात नहीं मुल्ला नसरुद्दीन पहली दफा अपने देश की राजधानी में गया हुआ था पहली दफा रास्ते से गुजर रहा था अचानक जोर से कारों के हार्न बजे ब्रेक लगे बसें रुक गई घबराहट फैल गई क्योंकि नसरुद्दीन अकड़ के बीच से चला जा रहा है बीच रास्ते से पुलिस वाले ने बहुत हाथ हिलाया रुकने के लिए लेकिन वो नहीं रुका पुलिस वाला पास आया और कहा कि महानुभाव क्या आपको समझ में नहीं आता कि मैं हाथ हिला रहा हूं नसरुद्दीन ने कहा मुझे समझ में नहीं आएगा मैं तीस साल स्कूल में मास्टर रह चुका हूं क्या पूछना है पूछो वो अपने स्कूल का अभ्यासी लड़के जब हाथ हिलाते तो पूछा क्या पूछना है पूछो सड़क पर भी पीछा नहीं छोड़ते पूछने वाले लोग रेडीमेड है उसे पक्का पता है कि जब कोई हाथ हिलाता तो उसका मतलब क्या होता है कृष्ण कोई ऐसे उत्तर नहीं दे रहे कृष्ण जैसे व्यक्ति उत्तर देते ही नहीं केवल प्रश्न को पी जाते हैं और उत्तर आता है केवल प्रश्न को भीतर बेच देते हैं और परम शून्य से ध्वनि उठती है और लौटा है सर्वज्ञ है वो इस अर्थ में कि वही है तो जानता ही है जानता ही है क्या हुआ क्या हो रहा है क्या होगा फिर भी इसका उसे कुछ भी पता नहीं है क्योंकि पता केवल अज्ञानी को होता है अनादि जो कभी प्रारंभ नहीं हुआ जिसका कभी कोई जन्म नहीं हुआ जो कभी शुरू नहीं हुआ जो बस है सदा से सबका नियंता वो जो सभी जिसके हाथ में सभी कुछ जिसके हाथ में चांद तारे जिसकी उंगलियों पर है सभी कुछ लेकिन नियंता शब्द से बड़ी भ्रांति हुई है क्योंकि हम नियंता से एक ही अर्थ ले सकते हैं सुप्रीम कंट्रोलर जो सभी के ऊपर नियंत्रण कर रहा है भूल हो जाएगी क्योंकि नियंत्रण जब भी किया जाता है तो दूसरे पर किया जाता है लेकिन यहां तो उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं इसलिए नियंता का अर्थ कंट्रोलर नहीं है नियंत्रण करने वाला नहीं है नियंता का अर्थ है नियम दिल्ला वही है उसके अलावा तो कोई भी नहीं है वही है किसको नियंत्रण करेगा नियंत्रण उसे करना भी नहीं पड़ता उसके जीवन की जो धारा है जो नियम है जिसे वेदों ने रित कहा और जिसे लाओस ने ताओ कहा है वही वो अपने आप वही नियम है उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं है इसलिए वो नियमता है इसलिए नहीं कि वो हम सबकी गर्दन को पकड़े हुए चला रहा है कि चलो तुम चोर बन जाओ तुम बेईमान बन जाओ तुम साधु बन जाओ अब तुम्हारा काम खत्म हुआ चलो लौटो वापस अगर ऐसा वो कर रहा हो तो कभी का पागल हो गया होता हम इतने पागलों का नियंत्रण करते करते कोई भी पागल हो सकता है सुना है मैंने इजिप्त का एक सम्राट पागल हो गया था कोई उपाय न देखकर चिकित्सकों ने कहा एक ही उपाय है वो शतरंज का बड़ा खिलाड़ी था तो कहा कि किसी बड़े खिलाड़ी को बुला लो और वो शतरंज खेलने में लगा रहे तो शायद ध्यान लग जाए शतरंज में तो पागलपन छूट जाए तो बड़ा खिलाड़ी था बड़े से बड़े खिलाड़ी बुलाए गए उसके साथ कोई खेलने को भी राजी नहीं होता था पागल के साथ कौन खेलने को राजी हो लेकिन बहुत पुरस्कार था तो बड़ा खिलाड़ी जो था वो राजी हो गया साल भर कहते हैं खेल चलता रहा थक जाता सम्राट सो जाता उठता फिर खेल शुरू हो जाता साल भर बाद चिकित्सकों ने जो कहा था वो सही निकला सम्राट ठीक हो गया लेकिन खिलाड़ी पागल हो साल भर पागल के साथ खेलना पड़े शतरंज तो आप समझते हैं क्या होगा इतने पागलों को अगर नियंत्रण कर रहा हो परमात्मा कभी का पागल हो चुका होगा और उसके इलाज का भी उपाय नहीं है फिर नहीं नियंत्रण कोई कॉन्सियस कंट्रोल नहीं है कि एक एक आदमी को चला रहा है पकड़ पकड़ के नियंता का अर्थ है वो नियम है नियम का क्या अर्थ होता है वो ख्याल ले लें आप रास्ते पर चल रहे हैं आपने तिरछा पैर रख दिया धड़ाम से जमीन पर गिरे और सिर टूट गया वैज्ञानिक से पूछें क्या हुआ वो कहेगा ग्रेविटेशन जमीन की कशिश का फल इस जमीन ने तुमको पटका जमीन अगर ऐसा पटकती रहे तो बड़ी कठिनाई होगी जमीन को भी और कहां कहां दौड़ना पड़ दिन भर रात भर कौन कहां गिर रहा है तिरछा चल रहा है नहीं ग्रेविटेशन कोई आपको गिराने नहीं आता ग्रेविटेशन मौजूद है नियम है वो जमीन की कशिश मौजूद है आप तिरछा पैर रखते हैं अपने आप गिर जाते हैं जमीन को पता भी नहीं चलता कि उसने किसी को गिराया वो नियम है पानी बहा जा रहा है सागर की तरफ अब कोई परमात्मा एक एक नदी को हकेल नहीं रहा कि चलो ये रहा रास्ता चूक मत जाना जगह जगह संतरी नहीं खड़े किए देखो ये भटक ना जाए नियम है कि पानी नीचे की तरफ बहता है बस वो नियम खड़ा है नदी सूख जाए तब भी नियम उस सूखी रेत में पड़ा है नदी बिल्कुल सूख गई पानी बिल्कुल नहीं है तब परमात्मा को उठा लेना चाहिए वहां से अपना कैंप हटो उठाओ तंबू अब यहां कोई जरूरत नहीं लेकिन उस सूखी नदी की धार में भी नियम तैयार है जब भी वर्षा होगी पानी आएगा नियम सक्रिय हो जाएगा नदी नीचे की तरफ बहने लगेगी नियमता का अर्थ है नियम परमात्मा नियम है और इसलिए सर्वनियमता है इसका जो स्मरण करे सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म आदमी की भाषा बड़ी कमजोर है कृष्ण के पास भी वही कमजोर भाषा है जो कमजोर से कमजोर आदमी के पास उनको भी कहना पड़ता है सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म फिर भी कोई हल तो होता नहीं और भी आगे कह सकते हैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तो भी कोई हल नहीं होता ये कृष्ण को ऐसा क्यों कहना पड़ता है सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म इसलिए कहना पड़ता है कि सूक्ष्म शब्द भी बहुत स्थूल है हम किसी चीज को कहते हैं बहुत सूक्ष्म लेकिन फिर भी वो होती तो है हम कहते हैं बाल बहुत सूक्ष्म है लेकिन बाल है तो ही काफी मोटा है उंगली में पकड़ा जा सकता है स्थूल है अगर अणु के बाबत हम पूछें तो वैज्ञानिक कहते हैं एक लाख अणुओं को हम एक के ऊपर एक रखें तो एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं अति सूक्ष्म लेकिन फिर भी होते तो है और एक लाखवा हिस्सा हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है बाल का लाखवा हिस्सा हुआ तो भी स्थूल तो है ही इसलिए कृष्ण को कहना पड़ता है सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म असल में उसे बताने के लिए हमारे पास कोई सूक्ष्म शब्द नहीं है हमारे सूक्ष्म का भी अर्थ केवल मात्रा का भेद होता है हाथी के सामने चीटी को रखते हम कहते हैं बहुत सूक्ष्म बस लेकिन चींटी के सामने और सूक्ष्म चीजें रखी जा सकती हैं और चींटी बड़ी हो जाएगी और चीजें छोटी हो जाएगी लेकिन जब हम भगवान को परमात्मा को कहते हैं सूक्ष्मतम तो उसका अर्थ यह है उससे ज्यादा सूक्ष्म फिर और कुछ भी नहीं द अल्टीमेट आखिरी अंतिम उसके नीचे और कुछ गिरने का उपाय नहीं उसके नीचे और कोई जाने का उपाय नहीं दी एबिस गहराई आखिरी अतल जिसे हम स्थूल कहते हैं उससे बिल्कुल भी पकड़ में ना आने वाला लेकिन हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि कल्पना भी हम केवल स्थूल की कर सकते उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती उसकी सिर्फ प्रतीति हो सकती है उसका सिर्फ एहसास हो सकता है अनुभव कहीं थोड़ा सा स्पर्श ले सकता है सूर्य के सदृश प्रकाश रूप तो कितनी कमजोर भाषा आदमी की सूर्य बिचारा क्या है और सूर्य से सदृश बता के हम क्या बता रहे हैं जैसे कोई कहे कि हमारे घर में जो रात में हम चिमनी जलाते एक दिया जलाते उस दिए के सदृश तो आप कहेंगे तू पागल है दिए के सदृश बता रहा है परमात्मा को एक फूक मारने तेरा दिया बुझ जाए लेकिन सूर्य हमें बहुत मालूम बड़ा मालूम पड़ता है लेकिन ज्योतिषियों से पूछे वो कहते हैं हमारा सूर्य जस्ट मीडिया का रिश्ता बहुत छोटा सा तारा है कुछ खास नहीं इससे हजार हजार दस दस हजार सात सात हजार लाख लाख गुने बड़े सूर्य हैं ये बेचारा क्या है ये कुछ भी नहीं ऐसे बहुत बड़ा है हमारी जमीन से तो साठ हजार गुना बड़ा है तो इसलिए बहुत बड़ा है और हमारे दिए से तो बहुत ही बड़ा है लेकिन कहीं कोई महासूरी है जिनके सामने ये हमारे दिए से भी छोटा है लेकिन फिर भी आदमी की भाषा कमजोर कृष्ण जैसे आदमी की भी भाषा कमजोर उसका कारण है कि भाषा ही कमजोर है आदमी क्या करे जो भी भाषा उपयोग करे वो कमजोर है सिर्फ एक एक इशारा कि सूर्य के सदृश प्रकाश रूप नहीं ये इशारा भी बिल्कुल ठीक नहीं पड़ता लेकिन उपाय नहीं कमजोरी है ये सूर्य भी बुझ जाएगा ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं इसका ईंधन चुका जाता है वैज्ञानिक कहते हैं चार हजार साल और ज्यादा से ज्यादा इस सूरज के बुझने की घड़ी करीब आ रही है और चार हजार साल कोई बहुत लंबा वक्त नहीं सूर्यों के हिसाब से क्षण भर का है इस जमीन को बने कोई चार अरब वर्ष हो गए ये सूरज इससे बहुत पुराना है ये जमीन बहुत नई है वैज्ञानिक कहते हैं अगर हम ऐसा समझें कि एक हजार पृष्ठ की कोई किताब हो उसे हम सूरज की उम्र मान लें तो जमीन की उम्र एक पृष्ठ के बराबर है और अगर जमीन की उम्र को हम एक प्रश्न मान लें तो उस प्रश्न पर जो फुल पॉइंट रखा जाता है उतनी उम्र आदमियत की है और आदमी की उम्र मेरी या आपकी इसका निशान नहीं बनाया जा सकता इसका निशान कैसे बनाइएगा फुल पॉइंट जो आप अपने बॉल पॉइंट से पेन से लगा दें उतनी उम्र आदमीयत की है एक पेज के बराबर जमीन की है एक हजार पेस के बराबर इस सूरज की है जमीन को हुए चार अरब वर्ष हो गए और ये सूरज अब केवल चार हजार वर्ष और चाहिए इसका क्या हिसाब है ये तो बुझ जाएगा लेकिन उदाहरण के लिए कृष्ण कहते हैं कि सूर्य के तरह जो प्रकाशवान है पर उसमें फर्क जोड़ लेंगे जो अनादि है पहले कह दिया उसका कभी अंत नहीं होगा जो कभी चुकेगा नहीं जो कभी समाप्त नहीं होगा लेकिन हाँ प्रकाशवान है स्वप्रकाशी है स्वयं ही प्रकाशित है इसे थोड़ा ख्याल में ले लें जगत में दो तरह की चीजें हैं दूसरों से प्रकाशित होने वाली और स्वयं प्रकाशित होने वाली हम एक दिया जलाते हैं एक कमरे में तो कमरे की सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं हम दिया बुझा देते हैं कमरे की चीजें नहीं दिखाई पड़ती कमरे की चीजें दिखाई पड़ सकती हैं अगर कोई दूसरा प्रकाश मौजूद हो लेकिन क्या आपको दिया जला के भी उस दिए को देखने के लिए दूसरा दिया लाना पड़ता नहीं दिया स्वप्रकाशित है मुला नसरुद्दीन एक रात सोया सर्द रात है बहुत सर्दी है उठने की हिम्मत उसकी पड़ती नहीं लेकिन जल्दी नींद खुल गई तो अपने नौकर से कहता है कि महमूद जरा बाहर देखकर आज सूरज निकला कि नहीं महमूद भी बुलाया कि खुद की तो हिम्मत नहीं पड़ रही है बाहर जाने की और मुझे भेज रहा है बाहर लेकिन मजबूरी थी उठ के जरा सा का जरा दरवाजे से झांक के देखा अंदर आके कहा कि बहुत घनघोर अंधेरा है नसरुद्दीन ने कहा मूर्ख अगर अंधेरा है तो दिया ले जाके क्यों नहीं देख लेता सूरज निकला या नहीं सूरज देखने के लिए अगर दिया ले जाकर देखना पड़े तो फैसला है दिया स्वयं प्रकाशित है लेकिन फिर भी दिए में ईंधन की जरूरत पड़ती तेल की जरूरत पड़ती दिया इंडिपेंडेंट नहीं है स्वतंत्र नहीं है परतंत्र है परमात्मा ऐसा प्रकाश है जो स्वयं प्रकाशित है स्वतंत्र है किसी चीज पर निर्भर नहीं है प्रकाश रूप है अविद्या से अति परे अज्ञान से अति दूर शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को जो स्मरण करता है वो उसी को उपलब्ध हो जाता है अविद्या से अति परे आखिरी बात अज्ञान में गिरा जा सकता है अज्ञान से उठा जा सकता है अविद्या से अति परे का अर्थ है कि जो अज्ञान में गिरने में असमर्थ है जो गिर ही नहीं सकता अज्ञान में जो गिर ही नहीं सकता तो ही अविद्या से परे है हम तो अज्ञान में गिरते हैं तो बड़ी जटिल समस्या है क्योंकि सभी के भीतर परमात्मा है फिर भी हम अज्ञान में गिरते हैं और परमात्मा अविद्या के परे है जो अज्ञान में गिर ही नहीं सकता फिर हम कैसे गिरते फिर तो उलझन बड़ी है और शंकर से लेकर सारे तत्विद भारत के बुरी पीड़ा में रहे कि कैसे सुलझाएं बड़ी अड़चन की बात है एक तरफ कहते हैं सभी के भीतर परमात्मा स्वीकार तो दूसरी तरफ कहते हैं वो अविद्या से अति परे वो अविद्या से पार है वो कभी अज्ञान में गिर नहीं सकता और हम सब अज्ञान में गिर गए और हम सबके भीतर परमात्मा इस पहेली का क्या हो ये पहेली हमारी बनाई हुई है है नहीं हम में से भी कोई भी कभी अज्ञान में गिरता नहीं वस्तुता गिरता नहीं सिर्फ ख्याल है हमें सिर्फ ख्याल सिर्फ हमारी धारणा है इसलिए जब कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है तो अज्ञान नहीं मिटता सिर्फ अज्ञान होने की धारणा मिटती है अज्ञान नहीं मिटता अज्ञान है भी नहीं लेकिन धारणा की क्षमता है प्रत्येक के पास ये क्षमता है कि वो अपने को धोखा दे दे अपने को धोखा देने की क्षमता है हम अपने को धोखा दे सकते हैं हम कह सकते हैं मैं अज्ञानी हूं मानता रहूं अज्ञानी हूं तो ये मान्यता इतनी बड़ी शक्ति है मेरे भीतर कि मैं इस मान्यता को भी सही कर दूंगा जो इम्पॉसिबल है जो असंभव है वो भी संभव होता हुआ मालूम पड़ता है विराट शक्ति छिपी है भीतर अगर मैं मान लू कि मैं अज्ञानी हूं तो मैं अज्ञानी अगर मैं मान लू कि मैं अंधा हूं पूरी सामर्थ्य तो आंखें इसी वक्त रोशनी खो दें अगर मैं मान लू कि मैं लंगड़ा हो गया तो इसी वक्त मेरा पैर लंगड़ा हो जाए मानना और विराट शक्ति है भीतर और मानने के लिए चेतना स्वतंत्र है यह हमारी मान्यता है कि हम अज्ञानी हैं इधर मजेदार हैं इधर अज्ञानी की मान्यता कर लेते हैं फिर ज्ञान की तलाश में निकलते हैं फिर ज्ञान इकट्ठा करते हैं फिर ज्ञान इकट्ठा करके अज्ञानी के ऊपर एक नई मान्यता बिठाते हैं कि नहीं मैं ज्ञानी हूं भटका लंबा हो जाता है पर दर पर पागलपन हो जाता है वस्तुतः ज्ञानी मैं ज्ञानी हूं इसकी खोज में नहीं जाता इसी खोज में जाता है कि ये मेरी मान्यता जो है वस्तुता है मैं अज्ञानी हूं और जैसे जैसे भीतर खोजता है मान्यता उखड़ जाती है और एक क्षण वो पाता है कि मैं न ज्ञानी न अज्ञानी अविद्या से परे हूं दोनों ज्ञानी और अज्ञानी अविद्या के भीतर पड़े होते हैं इसलिए उपनिषदों ने कहा है कि ज्ञानी भी भटक जाते हैं अज्ञानी तो भटकते ही हैं ज्ञानी महान का अविद्या से परे न ज्ञान न अज्ञान वैसा हमारा स्वभाव है इस स्वभाव की जो परम अभिव्यक्ति है वो परमात्मा है और जिस दिन हमारे भीतर किसी के भी भीतर वो अभिव्यक्ति हो जाती वो भी परम परमात्मा हो जाता है कहीं भी वो अभिव्यक्ति हो जाए वही और जहां नहीं है अभिव्यक्ति वहां भी परमात्मा मौजूद है सिर्फ आपकी भ्रांत धारणा में दबा हुआ कोई आदमी अपने को मान ले फिर वही धारणाओं से घेरती चली जाए ये ऑटो हिप्नोसिस है हमारी जो स्थिति है ये आत्मसम्मोहन है इस आत्मसम्मोहन को तोड़ना हो तो प्रभु का सतत स्मरण मंत्र आप इतना ही